सुलेमान बिन बिलाल ने हमें अब्दुल्ला बिन दिनार से खबर दी उन्होंने इबन उमर रजी अल्लाह तुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला को बेचने और हिबा करने से मना फरमाया इब्राहिम ने कहा मैंने मुस्लिम बिन हज्जाज को यह कहते हुए सुना इस हदीस में तमाम लोग अब्दुल्ला बिन दिनार ही पर इन्हिसार करने वाले हैं यानी सब सनदें उन्हीं पर आकर मिल जाती हैं सही मुस्लिम حدیث نمبر تین ہزار سات سو اٹھاسی